हाँ। <clears throat> मैंने जो भारत की सेना की कमजोरियों के आ, आ, मतलब चीन और अमेरिका की कंपैरिजन में हमारी सेना कितनी कमजोर हो गई है और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं किन-किन कानूनों से उसके ऊपर जो वीडियो बनाया तो उसमें कुछ एक सवाल आए थे मैंने एक एसेशन किया था कि यदि चीन और पाकिस्तान मिल जाते हैं मतलब चीन अपनी सेना नहीं भेजता लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ हथियार देता है और पाकिस्तान की सेना भारत पे हमला करती है चीन के सारे आधुनिक हथियार ड्रोन क्रूज मिसाइल सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्रूज मिसाइल है और सऊदी अरेबिया यदि पाकिस्तान को पैसे देता है सारे हथियार खरीदने के लिए और चीन है वो हथियार देता है और सैटेलाइट हेल्प देता है चीन को तो और अमेरिका हमें तीन महीने बाद में मदद करता है मदद करता है लेकिन तीन महीने देरी कर देता है मदद करने में तो उन तीन महीने में पाकिस्तान की सेना है वो कश्मीर ये कलकत्ता और मद्रास तक पहुंच सकती है ये मैंने एक एक्सप्लेन किया था तो कुछ एक एक क्वेश्चन आया कि यदि चीन और पाकिस्तान ऐसा कर सकते हैं तो आज क्यों नहीं कर रहे हैं तो उसमें यह है कि चीन को एक लॉन्ग टर्म नुकसान होने का भय है वो भय क्या है कि यदि भारत पाकिस्तान के साथ अमेरिका के साथ मिल गया अमेरिका का एकदम पिट्ठू बन गया अमेरिका का चमचा बन गया तो चीन को बहुत नुकसान हो सकता है कैसे चीन को नुकसान हो सकता है कि फिर अमेरिका है वो भारत का ऊंट की तरह उपयोग करेगा चीन के सामने ऊंट की तरह उपयोग करने का मैं आपको एक थोड़ा हिस्ट्री में बताऊं कि ऊंट की तरह उपयोग करने का कहावत का मतलब क्या होता है कि पुराने जमाने में एक सेना है वो उसने किले को घेर लिया अब किले को दीवारें तो मजबूत होती है अब किले का दरवाजा तोड़ना है तो दरवाजा भी थोड़ा मजबूत होता है तो तोड़ने का एक क्या टेक्निक लिया जाता था कि ऊंट को ट्रेनिंग दी जाती थी कि उसको शराब पी के भूखा रखा जाता था फिर एक पर्दा रखा जाता था जो कि दरवाजे जैसा दिखता हो गत्ते का एक दरवाजे का गत्ता बनाया गत्ते का दरवाजा बनाया जाता था और ऊंट को उकसाया जाता था कि वो दौड़ के जाके उस गत्ते से टकराए तो ऊंट को कुछ होगा नहीं और जैसे ही वो टकराता है तो उसको और दारू मिलेगा और खाना मिलेगा ऊंट खुश हो जाएगा तो ऊंट को एक आदत डाल दी जाती थी कि भाई तुझे भूख लगी है तो जा ये दरवाजे से टकरा और तू दरवाजे से टकराएगा तो उसके बाद तुझे बहुत खाना मिलेगा तो युद्ध के समय जो किले का दरवाजा है उसमें ऊंट को पास में ले जाया जाता था और शराब पी के छोड़ दिया जाता था और ऊंट को इस तरह की ट्रेनिंग मिली कि वो जोर से दौड़ से दौड़ के जाके दरवाजे को टकराता है तो उसको खाना मिलेगा तो इस तरह से वो दौड़ के ए, एक ऊंट दो ऊंट इस तरह से बहुत सारे ऊंट टकराएंगे दरवाजे से तो ऊंट की हड्डियों में बहुत ताकत बहुत मजबूत होती है ऊंट की हड्डियां तो इस तरह से बहुत सारे ऊंट जब दरवाजे से टकराएंगे तो दरवाजे में दरारें पड़ जाएगी और दरवाजा टूट जाएगा तो अमेरिका किस तरह से भारत का ऊंट की तरह उपयोग कर सकता है चीन के खिलाफ कि सेकंड राउंड में अमेरिका भारत को बहुत सारे हथियार दे सकता है और उकसा सकता है कि अब तुम आदमियों के साथ सेना के साथ चीन पे हमला करो तो अमेरिका के हथियार और भारत की सेना मिलके चीन को पूरा तबाह कर सकती है यानी भारत अभी बचा है तो इसी वजह से बचा है देखो हमारी स्थिति कितनी कमजोर है कि चीन अमेरिका भी चाहे तो हमें खत्म कर सकता है लूट सकता है जिस तरह से उसने इराक लूट लिया जिस तरह से उसने लीबिया लूट लिया अब माली लूट रहा है तो अमेरिका भी हमें पंद्रह दिन के अंदर लूट सकता है पर वो क्यों नहीं लूट रहा कि भाई हमने अमेरिका को लूटने की कोशिश की और सेकंड राउंड में यदि चीन बड़े पैमाने पर भारत को हथियार देता है तो भारत है फिर जो भी अमेरिका की सेना भारत में होगी उसको बड़े पैमाने में नुकसान पहुंचा सकता है और चीन हम पे हमला क्यों नहीं कर रहा पाकिस्तान के थ्रू या तो डायरेक्टली क्योंकि वो देखता है कि यदि सेकंड राउंड में अमेरिका भारत पूरा का पूरा चीन का गुलाम हो गया अरे सो भारत पूरा का पूरा अमेरिका का गुलाम हो गया तो फिर अमेरिका के हथियार प्लस भारत की सेना चीन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है तो अंदर तक पहुंच जाएगी पूरा चीन पूरा तबाह हो सकता है तो इसलिए एक स्टैंड ऑफ हो गया पर इसमें हमारी ताकत नहीं है हम दो दुश्मनों की ताकत की भय से एक दूसरे को परस्पर भाई मतलब चीन को अमेरिका का भय है अमेरिका को थोड़ा चीन का भय है और इसलिए हमारी अभी तक सेफ्टी मिली है लेकिन जिन दिन देश दोनों देशों ने तय किया कि भाई ये 50 परसेंट तू रख ले ये 50 परसेंट तू रख ले उस दिन हम खत्म हो गए उस दिन हम हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपनी ताकत पे दोनों में से किसी के सामने खड़े होकर लड़ सके और वो कॉम्प्रोमाइज होने की संभावना दिन ब दिन बढ़ती जाती है क्योंकि जब दोनों ताकतें देखती है कि भाई हम आपस में लड़ेंगे तो हमारा नुकसान है लड़ाई बंद करो और जो माल है वो आपस में बांट लो चीन बोलेगा कि चलो हमको 50 परसेंट नहीं दे सकते तो चलो 25 परसेंट दे दो और अमरीका के चलो फाइव परसेंट भारत हम रखेंगे दोनों में कॉम्प्रोमाइज आ गया हम खत्म हो गए पर अभी अमरीका है वो चीन को खत्म करना चाहता है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता वो चीन को पूरी तरह खत्म करना चाहता है जिसने उसने इराक को पूरी तरह खत्म कर दिया जिसने लीबिया को पूरी तरह खत्म कर दिया इस तरह से वो चीन को पूरी तरह खत्म करना चाहता है इसलिए वो इस तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा कि भाई 50 25 परसेंट भारत तुम रख लो 75 परसेंट हमें दे दो इसलिए तो आपके जवाब सवाल था कि भाई भारत कि चीन और पाकिस्तान की सेना आज की डेट में हम पे हमला क्यों नहीं कर रही इसलिए क्योंकि उन्हें डर है कि भाई अमेरिका पूरा का पूरा यदि अमेरिका भारत यदि पूरा का पूरा अमेरिका का गुलाम बनने को तैयार हो गया तो हम मारे जाएंगे दूसरा क्वेश्चन था कि भाई आर्मी के जवान चुप क्यों हैं भाई चुप है ऐसा भी नहीं कह सकते जनरल आर्मी के जो चीफ है जनरल वगैरह वो इस बात से इस बात को उठाते क्यों नहीं है पब्लिक में कि हमारी सेना कमजोर हो चुकी है ऐसा नहीं है जनरल वीके सिंह ने इस मुद्दे को उठाया था कि हमारे सामने चीन को लड़ने चीन के साथ युद्ध हो तो पंद्रह दिन चलो उतना भी सामान नहीं है ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया देखो दो तीन चीजें होती है दुनिया का कोई सैनिक कोई भी सेना का सैनिक हो वो अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहता और वो दिखाए वो ठीक भी नहीं है भारत की सेना की कमजोरी की चर्चा सरेआम हो वो भी ठीक नहीं है उससे सैनिकों का मनोबल गिरता है पूरे प्रजा का भी मनोबल गिरता है ये समस्या ऐसी है जो कि कहे बिना ही सुलझानी होती है मुझे क्यों वीडियो बना करके कहना पड़ता है क्योंकि कोई नहीं कह रहा ये काम सिविलियन मीडिया का है लेकिन सिविलियन मीडिया तो आप जानते हैं पूरा का पूरा पेड मीडिया है फिर वो एनडीटीवी हो या दूरदर्शन हो या ये टाइम्स ना हो या सारे के आज तक हो ये सारे के सारे चैनल बिक चुके हैं तो इसलिए फिर इस तरह से मुझे वीडियो बनाने के लिए बोलना पड़ता है पर कोई भी आर्मी चीफ है वो इस मुद्दे को पब्लिकली डिस्कस नहीं करेगा कभी भी वो अपने सेना की कमजोरी पब्लिक में नहीं रखता वो सिविलियन लोगों को काफी अप्रोच करते हैं जितने भी आर्मी के चीफ है वो काफी एमपी एमएलए वगैरह एमएलए तो नहीं पर एमपी मिनिस्टर को कहते हैं कि भाई ये करना चाहिए ये करना चाहिए ये करना चाहिए पर वो लोग नहीं करते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते फिर हम सेना को क्यों नहीं कहते कि रिवोल्ट करो क्योंकि ये करने लायक काम नहीं है हम सेना को नहीं बोलते मैं मिलिट्री रूल के खिलाफ हूं मिलिट्री रूल में ज्यादा नुकसान होता है देश का एक अमेरिका ने कैसे प्रोग्रेस किया अमेरिका की मिलिट्री मजबूत हुई है तो इसलिए नहीं क्योंकि वहां मिलिट्री रूल है इसलिए क्योंकि वहां ऐसा सिविलियन रूल है जो कि हाईली प्रो मिलिट्री है हमारी जरूरत है एक ऐसा सिविलियन रूल जो कि हाईली प्रो मिलिट्री हो मिलिट्री रूल वो न हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ऊपर से वो सिचुएशन को और बिगाड़ देगा जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दू तो पाकिस्तान का पाकिस्तान में मिलिट्री रूल है लेकिन उसने पूरी सिविलियन इकोनॉमी खत्म कर दी अब मिलिट्री भी खत्म होने के पॉइंट पे आ गई है और मिलिट्री रिवोल्ट में जो सप्रेशन होता है उसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस रुक जाता है मैं ह्यूमन राइट्स और वो सब उन पटांग बातें नहीं कर रहा ह्यूमन राइट्स वालों को तो ये फोर्ड फाउंडेशन और इंटरनेशनल लोग पैसा देते हैं इसलिए वो ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठाते हैं पर ये एक फैक्ट है कि जो डिक्टेटोरियल रिजीम होता है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को कमजोर कर देता है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए freedom of speech freedom to start business freedom to work freely ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसी से इनोवेशन आता है इसी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो इसलिए हम सेना को रिवोल्ट करने के लिए नहीं कहते धन्यवाद